जल्द ही वो कहेंगे कि वो तीन थे और उनका चौथा उनका कुत्ता था और वो कहेंगे कि वो पांच थे और उनमें से छठा उनका कुत्ता था ये बगैर इल्म के रायजनी करना है और वो कहेंगे कि वो सात थे और उनमें से आठवां उनका कुत्ता था आप कह दें मेरा रब ही उनकी तादाद को बेहतर जानता है थोड़े लोगों के सिवा उन्हें कोई नहीं जानता चुनाचे आप उनके बारे में किसी से सरसरी बहस के अलावा झगड़ा ना करें और ना ही उनके बारे में उनमें से किसी से फैसला मांगें